राम लखन सिय रूप निहारे कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी ते पितु तो कहु सखी कैसे जिन पठ बन बालक ऐसे एक कहीं भल भूपति की लोयन लाहू हम विधि तब निषाद प्रति उरयनुमाना छुपा मनोहर जान लय रघुनाथ हे ठाउ देखावा कहे राम सब भाति सुहावा पुरजन करे जोहारु घर आए रघुबर सन्ध्या धा गुह सवासा थरी दशालयमय मृदुल सुहाय फल मूल मधुर मृदु जाने दोना भरी भरी राखे सिपाणी श्री राम जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव की स्त्रियां पुरुष प्रेम के साथ चर, चर्चा करते हैं कोई कहती है हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है कोई एक कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है पूर्वासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए सुमंत्र भ्राता सहित फल खाय शयन के नरघुवंशमने पाय पलोटत भाई सीता जी सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रकुलमणि श्री रामचंद्र जी लेट गए भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे उठे लखन प्रभु सोवत जाने कही सच बहे सोवन मृदु भानी कछुक दूर सजे बानसरासन जागन लगे बैठ बीरासन गुह बुलाए पारो प्रत्येते ठाव ठावरा के यति प्रीति आप लखन पहे बैठ उजाए कटे भात सर चाप चढ़ाए फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा सोवत प्रभु हे निहारे निषादो भयो प्रेम बस हृदय विषादो अनुपुल पुलकित जलो लोचन बहि वचन लखन सन कहि भूपति भवन शुभाय सुहावा सुरपति सदन पटतर पावा अनिमय रचित चार चौबारे धनुरति पति नित हाथ संवारे प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र से प्रेमाश्रुओं की जल बहने लगा वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है इंद्र भवन ही जिसकी समानता नहीं पा सकता उसमें सुंदर मड़ियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले में है जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है सुचि सुबा सुचि सुबी चित्र सो सुभगमय सुमन सुगंध सुभाष परंग मंजुमन देपजह सब विधि सकल सुपास जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है